अल्हम्दुलिल्लाह सलात वसलामल्ला नबी अबादा फ़ाउज़बिल्लामिनशैतानरजीम बसमीम कुंतम खैर उम्मतिन उखरजत लन्नास तमरून बिलमारूफ़ वतनहनानमनकर वतमिन बिल्ला सदक़ल्लाज़ीम व सदाक रसूल करी मेरे मुहतरम व मुकर्रम व मुआज़ सामीन कराम व ख़वान इस्लाम अल्लाह रबुल्ज़त का फ़ज़ल और उसका एहसान और उसका करम हुआ कि उसने हम लोगों को अपने रास्ते में निकलने की तोफ़ी नसीब फरमाई और देखते देखते वक्त पूरा होने को जा रहे हैं घर में रहो तो भी वक्त गुजर जाएगा बाजार में रहो तो भी वक्त गुजर जाएगा सफ़र में जाओ तो भी वक्त गुजर जाएगा अस्पताल में रहो तो भी वक्त गुजर जाएगा जन्नत और जहन्नम ये दो अल्लाह की ऐसी तख्लीक हैं जिस पर वक्त तारी नहीं होता गर्मी का मौसम सर्दी का मौसम बारिश का मौसम इस तरह से कोई मौसम नहीं बदलता जन्नत हमेशा एक जैसी रहती है एक जैसे हालात रहते हैं लेकिन नेमतों में इजाफा रहता है दुनिया में मौसम बदलते तो चीज़ों के अंदर भी तरक्की और तनजुली आती है धूप काले में पूरे झाड़ सूख जाते और न्यू काले में पूरे हरे हो जाते इसी तरह से धुपकाले काले में के पूरे रोड सड़क के धूल उठने लगती है बारिश के मौसम में ये सारी चीज़ें धुल जाती हैं धुपकाले में लोग जो है दुबले हो जाते हैं परेशान हाल हो जाते हैं बारिश में और सर्दी में और चेहरों पर रंग चढ़ जाता है जैसे मौसम बदलता है तो चीज़ें की चीज़ों की हालतें भी बदलती बदलती रहती हैं लेकिन जन्नत में कोई मौसम नहीं रहता वहाँ की आयश व इशरत में और वहाँ की खैर में वहाँ की नेमतों में इजाफा ही होता रहता है जैसे एक दरख्त पर पत्ते लगे हुए हैं और उस दरख्त के पत्तों को देखते देखते तबीयत उकता गई तो फिर वो दरख्त के पत्ते दूसरे टाइप से बदल जाएंगे फिर कुछ ज़माना गुजरा फिर वो पत्तों को देखते देखते तबीयत उकता गई तो फिर वो पत्ते दूसरी शक्ल इख्तियार कर लेते एक ही झाड़ रहता है दुनिया में जितने रकम के पत्ते होते हैं और उतने पत्ते उस पर लग सकते और दुनिया में जितने फल फ्रूट हैं और उसी पेड़ से अल्लाह पिखा सकते ये जन्नत की नेमतें हैं लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं है नारियल का झाड़ नारियल के झाड़ के सरकाज रहता क़ियामत की सुबह तक नहीं बदलता मौस का झाड़ मौस के झाड़ के सरकाज रहता क़ियामत तक वो नहीं बदलता मौस का झाड़ नारियल के झाड़ के सर का नारियल का झाड़ मौज के झाड़ के सर का ये कभी नहीं बदलता ये अल्लाह रब्ज़त की खिलकत की सुन्नत है कि वो अल्लाह ने जिसको जैसे बना दिया और वो क़ियामत तक के लिए अपनी खिलकत में और उसी एतबार से रहेंगे और इसी तरीके से जिस झाड़ पे जो फल लगना है और उस झाड़ पे वही फल लगेगा और उस पर दूसरा फल नहीं लगेगा जैसे बादाम के झाड़ पर बादाम लगेगा अनार के झाड़ पर अनार लगेगा अगर कोई चाहे पूरी कोशिश करके कि बादाम के झाड़ को अनार लगना अनार के झाड़ पर बादाम लगना ऐसा नहीं हो सकता दुनिया में अल्लाह रबुल्ज़त अपनी खिलकत को नहीं बदलते लेकिन जन्नत में ये चीज़ें बदल जाती जैसे दुनिया में मौसम है तो फिर हालात बदलते रहते हैं कि ये धुपकाला चले जाएगा तो फिर बारिश का मौसम आ जाएगा ये जो धुपकाला चला गया क़यामत तक फिर कभी वापस लौट कर नहीं आएगा आज का दिन जो गुजर जाएगा वो क़यामत तक वापस लौट कर नहीं आएगा जो आदमी जिस हाल में है उसका वक्त वहीं पर ख़त्म होता जा रहा है अस्पताल में रहने वाले का वक्त अस्पताल में ख़त्म हो रहा रोड पे रहने वाले का वक्त रोड पे ही ख़त्म हो जा रहा घर में रहने वाले का वक्त घर पे ही ख़त्म हो जा रहा दुकान में रहने वाले का वक्त दुकान पे ख़त्म हो जा रहा जो आदमी बाहर मुल्क गया तो बाहर मुल्क में भी वक्त ख़त्म हो रहा गया आदमी जवानी में बुढ़ा होके आ रहा उधर से बच्चे छोटे थे तब गया था आने तक बच्चे बड़े हो गए आने तक बच्चे बड़े हो गए मेरे मोहतरम माँ बहनों दुनिया में वक्त की जो घंटी है और वो चल रही है वक्त किसी के लिए नहीं रुकता अल्लाह अगर किसी के लिए रोक दें तो ये तो हो सकता है वरना अल्लाह रबुल्जत ने दुनिया के जो वक्त को जारी कर दिया तो वक्त गुजरता चला जाएगा अब जैसे आप लोग दस दिन की जमात में आए अगर तुम घर में रहते तो भी दस दिन हो जाते अगर तुम घर में रहते तो भी दस दिन हो जाते और हाथ कुछ ना लगता हाथ कुछ ना लगता तुम अल्लाह के रास्ते में आ गए और ये दस दिन अल्लाह के रास्ते में लग गए और ये दस दिन इतने कीमती बन गए एक दिन हजार दिन के बराबर हो गया एक दिन हजार दिन के बराबर हो गया और तुम जो अल्लाह के रास्ते में बैठे मजलिस के लिए और दीन के बातों के लिए बैठे मुजाकरी के लिए बैठे एक एक सेकंड पर सत्तर साल की इबादत का सवाब मिला अल्लाह के रास्ते में निकल कर जो तकलीफ़ें आपको हुई और जो परेशानियाँ और आपको फेस करना पड़ा है जो परेशानियों से आपको दो चार होकर गुजरना पड़ा है एक एक तकलीफ के बदले में अल्लाह रबुल्ज़त मुजाहिद का सवाब अल्लाह आपको अता फरमाए ये वक्त किस तरीके पर कामयाब हुआ दुनिया में समझ में आए या ना समझ में आए दुनिया में समझ में आए या ना समझ में आए लेकिन मेरे मोहतरमा बहनों कबर में जाने के बाद ज़रूर पता लगेगा कबर में जाने के बाद ज़रूर पता लगेगा क्योंकि दुनिया में बाज मरतबा अल्लाह दुआ की कबूलियत को जाहिर नहीं करते मूसा सलाम ने दुआ मांगी अल्लाह फिरौन जो है बहुत बड़ा सरकश बन गया और इसको तो ख़त्म कर दे इसको तो हलाक कर दे अल्लाह इज़्ज़त ने नबी की दुआ के कबूल करने में नबी की दुआ को कबूल करने में 40 साल लगाए मूसा सलाम ने दुआ मांगी 40 साल पहले फिर हलाक हुआ चालीस साल के बाद नूह सलाम ने दुआ मांगी लोगों के खिलाफ उस वक्त के अल्लाह मैं दावत दे रहा हूँ दावत देते देते 500 बरस गुजर गए लेकिन ये लोग नहीं समझ रहे ये लोग नहीं समझ रहे अल्लाह तो पूरी दुनिया में जितने लोग हैं और इन सबको तो हलाक कर दा अल्लाह रब्ज़त बोले तो कश्ती बना तो कश्ती बनाए और कश्ती बनाते बनाते और वो कश्ती पूरी हो गई कश्ती पूरी होने के बाद साढ़े चार सौ साल लगी दो दुआ के कबूल होने में पांच सौ साल के बाद हजरत नू सलाम ने दुआ मांगी और साढ़े चार सौ बरस जो है नू सलाम ने दुआ की कबूलियत का इंतज़ार किया अल्लाह रब्ज़त ढील देते क्या ढील देते आज नहीं तो कल समझते कल नहीं तो परसों समझते परसों नहीं तो वो परसों समझते इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत वाले हैं रहमान हैं अल्लाह ताला इंतज़ार करते करते इंसानों के लिए साढ़े चार सौ बरस गुजारते लेकिन मेरे मोहतरम माँ बहनों अगर हमारा बच्चा हमें नाफरमानी करे हमारी तो हम दो दिन भी इंतज़ार नहीं कर सकते अगर हमारी बहू हमारी नाफरमानी करे तो सास एक दिन की तो दूर की बात एक घंटा सबर नहीं कर सकती और हमारा शोहर या हमारी बीवी हमारी नाफरमानी करे तो हमें घंटे की तो दूर की बात दस मिनट भी हम इंतजार नहीं कर सकते और उसकी पकड़ करते और उसकी जो है सरजनिश करते और उसको जो है कि हम उसको मार से या गाली से या डांट से जो है काम लेते अपनी नाफरमानी के बावजूद और नबी को सताने के बावजूद अल्लाह रब्ज़त साढ़े चार सौ बरस इंतज़ार किए और फिर उसके बाद आपकी दुआ को कबूल फरमाया अल्लाह रब्ज़त दुआ को कबूल फरमाती लेकिन कभी कभी इंतज़ार कर दी कभी कभी इंतज़ार कराती हमने जो दुआएं मांगी हैं वो दुआएं कबूल होती हैं ज़रूर लेकिन अल्लाह रब्ज़त पता नहीं कितना वक्त इंतज़ार कराएंगे अल्लाह ताला इंतज़ार कराने के बाद दुआ जरूर कबूल फरमा दे लेकिन मेरे मोहतरमा बहनों हम लोग ये सोचते हैं कि हम अल्लाह के रास्ते में भी गए और दुआ भी मांगे लेकिन दुआ कबूल नहीं हुई हम ये लोग सोचते हैं लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए अल्लाह के रास्ते का एक एक सेकंड अल्लाह के रास्ते की एक एक दुआ किसी सूरत में किसी सूरत में ज़ाया नहीं होती रायगा नहीं होती बेकार नहीं जाती यहाँ तक के रसूलुल्लाह वसल्लम ने शाद फरमाया गुनागार से गुनागार आदमी अल्लाह के रास्ते में चला जाए पहला कदम जो उसका अल्लाह के रास्ते में पड़ेगा अल्लाह रब्ज़त पहले कदम पर ही उसको अपना वली बना लेंगे पिछले गुना चाहे कितने भी हो हालांकि हम लोग हाँ, कितने बड़े गुनागार हैं हमारे कितने बड़े गुनागार हैं कितने ख़ता हैं और कितने जाने हुए गुनाह हैं और कितने अनजाने के गुनाह हैं लेकिन जब हम अल्लाह के रास्ते में आए तो लोग हमसे कहते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करो आप ऊंचे रास्ते में हैं आप हमारे लिए दुआ करो यानी कि हमारी कबूलियत की निशानी तो एक तो यही होगी कि अल्लाह रबुल्ज़त ने कि जो है हमारे लिए लोगों की दुआ करवा रहे लोग हमारे से दुआ करवा रहे मेरे भाइयों मेरे मोहतरम माँ बहनों अल्लाह रब्ज़त ने दस दिन के लिए कबूल फरमाया और ये दस दिन की और जितनी भी दुआएं हैं और ज़रूर भी ज़रूर कबूल होंगी लेकिन ये दस दिन आप लोगों के जो लग रहे हैं यहाँ पर अल्लाह के रास्ते में जो लोग घर पर हैं उनके दस दिन घर पर भी ख़त्म हो गए देखो जो लोग घरों पर हैं और उनके दस दिन घर पर रहते हुए भी ख़त्म हो गए और आप अल्लाह के रास्ते में हो और अल्लाह के रास्ते में तुम्हारे दस दिन पूरे हो रहे हैं और एक दिन का हजार दिन का बदला अल्लाह की तरफ से मिल रहा है अल्लाह की तरफ से मिल रहा है मेरे मोहतरमा बहनों अल्लाह के रास्ते में निकलने का सबसे बड़ा इनाम अल्लाह के रास्ते में निकलने का सबसे बड़ा इनाम और खसूस औरतों के लिए खसूस औरतों के लिए अल्लाह ताला हमें कदरदानी की तोफ़ी नसीब फरमाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो औरतें अल्लाह के रास्ते में निकलती हैं जो औरतें अल्लाह के रास्ते में निकलती हैं अल्लाह इज्जत जन्नत में उसकी ज्यारत के लिए आएंगे उमूमन ये होता है कि जब अल्लाह ताला की ज्यारत होती है तो सारे लोग अल्लाह के अर्श की तरफ जाते अल्लाह के अर्श की तरफ चलते लेकिन जो औरतें अल्लाह के रास्ते में निकलने वाली होती हैं और अल्लाह के रास्ते की मुजाहिद औरतें जो होती हैं अल्लाह इज्जत और उनको मजमा आम के अंदर नहीं बुलाता अल्लाह ताला खुद उनकी जन्नत में जाकर और उनकी ज्यारत कराते लोग तो आए हैं मेरी ज्यारत के लिए और मैं आया हूं तेरी ज्यारत के लिए ये खसूसी तौर पर ये औरतों के लिए अल्लाह ताला का इनाम है मेरे मोहतरम मां बहनों दुनिया के अंदर भी एक इनाम मिलेगा अल्लाह के रास्ते में निकलने वाली औरतों के लिए दुनिया के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक इनाम मिलेगा जो अल्लाह के रास्ते में निकलने वाली औरतों के लिए वो इनाम ये है अल्लाह रब्ज़त ज़मीन की हर चीज़ में और कायनात की हर चीज़ में उस औरत के लिए अल्लाह रब्ज़त कबूलियत को डाल देंगे कबूलियत को डाल देंगे जैसे आपने सुना होगा उम्म ऐमन रजी अल्लाह तहा हजूर अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांदी भी थी और आपकी खिदमत भी करा करती थी उम्मे ऐमन रजी अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आप सल्लल्लाहु उम ऐमन रजी अल्लाह से बहुत मोहब्बत थी बहुत मोहब्बत थी जब वो अल्लाह के रास्ते से अल्लाह के रास्ते में निकली अल्लाह के रास्ते में निकलकर खूब लोगों की खिदमत करती और खूब जो उनके जिम्मे काम होता और वो काम सरंजाम देते अल्लाह ताला ने और उनकी दुआ को ऐसी सुन ली कि अल्लाह ताला ने अब उनके दिल में आकर और जो है अपनी जगह बना ली जैसे कि देखो जैसे कि देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो आदमी अल्लाह को पाने की मेहनत करेगा अल्लाह उनके दिल में घर बना लेते हैं और फिर दुनिया की हर चीज़ के मुकाबले में अल्लाह की इज्जत और उनके दिल में ज़्यादा हो जाती है फिर फिर इंसान को अल्लाह के सिवा कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती ऐसा ही हुआ कि वह रसूल वसम की खिदमत और इसी तरीके से अल्लाह के रास्ते की खिदमत करते करते अल्लाह के सिवा कोई चीज़ और उनको अच्छी ना लगी अच्छी ना लगी आखिर उम्र में और शहर से बाहर और एक मकाम पर आकर रहना शुरू कर दिया और यह सोचकर मैं गांव में रहूंगी और मकाम पर रहूंगी लोग मेरे से मिलने आएंगे और मेरे से बातचीत करेंगे और मेरे को इबादत में डिस्टर्ब होगा और मैं ठीक से और बात नहीं इबादत नहीं कर पाऊंगी यह सोचकर गांव के बाहर एक ठिकाना बनाया और ठिकाने पर रहती अल्लाह की इबादत खूब करती अल्लाह की इबादत खूब करती तो जब अकेली जंगल में चली गई और अपने खादिमा के साथ तो फिर खाने पीने की भी तो जरूरत पड़ेगी खाने पीने की भी जरूरत पड़ेगी मेरे मोहतरमा बहनों किताबों में लिखा है उनके बारे में जब उनको प्यास लगती और वो ये कहती हाथ उठाकर ए अल्लाह मुझे प्यास लग रही है तो अल्लाह इज्जत आसमान से पानी का प्याला उतारते पानी की सुराई उतारते गिलासों के साथ और वो पानी पी लेती और फिर इबादत में लग जाती और इबादत करते करते करते और जब उनको खाने की भूख लगती और हाथ उठाकर ये कहती अल्लाह मुझे भूख लग रही है तो अल्लाह इज्जत आसमान से दस्तरखान उतारते आसमान से दस्तरखान उतारते और वो खा लेती और फिर और उसके बाद जो है फिर वो जो है अल्लाह की इबादत में लग जाती मेरे मोहतरम माँ बहनों देखो कि एक काफिला था और उस उधर को गुजर रहा था और वो भी भूखा और प्यासा था उसने देखा यहाँ एक खीमा लगा हुआ है और इस खीमे के अंदर जो है ये खीमा लगा हुआ है और खीमे के अंदर कोई हैसर का है यहाँ कुछ पानी तो रहेंगे ही हम भी चलो यहाँ पर खीमे नस्ब कर लेते हैं और पानी वगैरह का इंतज़ाम यहाँ से हो जाएगा और वो खीमे वाले भी भूखे और प्यासे थे और जब उन्होंने देखा कि जब आए और करीब आकर पूछा कि दो ही औरतें हैं एक उम्म अमन है और एक उनकी खादिमा है उन्होंने आकर कहा कि भाई कुछ खाने या पीने के लिए मिलेगा खादिमा ने कहा कि थोड़ा इंतज़ार कर लो और जब हमारी आका जब पानी मंगाएंगी तो उस वक्त में आप लोगों को भी पानी मिल जाएगा तो फिर उन्होंने जब अपने वक्त मुतना पर अल्लाह ताला से दुआ की हाथ उठाकर अल्लाह पानी प्यास कर ये पानी पिला दे तो पानी अल्लाह की तरफ से आसमान से उतरा और पानी पिया खादमा ने भी पानी पिया तो खादमा ने कहा कि काफिले वाले आए हैं और वो भी पानी पूछ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ये प्याला उनको दे दो और काफिले के अंदर जितने लोग थे उन्होंने पानी पिया और फिर जो है उनको एक तरह से भूख भी कम हो गई और फिर जब खाने का वक्त आया तो खाना भी इसी तरीके से उन्होंने खा कर दिया और फिर इसी इसी इसी तरह से दूसरे काफिले वाले आ गए तीसरे काफिले वाले आ गए चौथे काफिले वाले आ गए मेरे मोहतरम माँ बहनों उम्मे ऐमन रजी अल्लाह तहा एक अकेली हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगती हैं और काफले वाले जमा होते होते अस्सी काफले हो गए अस्सी घराने हो गए अस्सी कुंबे हो गए एक एक काफले के अंदर बीस आदमी पचास आदमी सौ आदमी डेढ़ सौ आदमी और जब काफला रवाना होता है इतनी इतनी तादाद में होते हैं अस्सी पिचासी खानदान कुंबे और अस्सी पिचासी काफले आकर उम्मे ऐमन के पास जमा हो गए वह आसमान से पानी उतारती और पूरे लोग पी लेते आसमान से खाना उतारती और पूरे लोग खा लेते यह है देखो कबूलियत अल्लाह के रास्ते की कबूलियत यह है अल्लाह के रास्ते की बरकत अल्लाह के रास्ते की बरकत उतरा एक आदमी के लिए यह उतरा दो आदमी के लिए और खारे अस्सी अस्सी घराने और अस्सी अस्सी कुंबे यहां तक के मुर्रखीन बताते जिस जगह पर उम्मे ऐमन का पड़ाव था और वहां पर के इस वक्त में एक शहर बसा हुआ है ये गांव बसा हुआ है उम्मे ऐमन के नाम पर जो काफिले वाले वहां पर क्याम करे थे जो औरतें अल्लाह के रास्ते में निकलने वाली होती हैं अल्लाह उनके हाथों में इसी बरकत देती एक तरह की इतमान रहती है घर में सोचो ऑब्जर्व करो तुम लोग हाँ, कि बास मरतब ऐसा होता है सास पके तो घर में बरकत हो जाती है और भू पके तो हो जाता थोड़े लोगों के हाथा हमारे दादी बोलती थी अटकट्टे हाथा नहीं करते डेढ़ पड़ी पके तो भी हो जाता करते थोड़े लोग सवा पड़ी पके तो भी बच जाता कहते मैं पूछा था क्या दादी वो मंत्रम क्या तो बताओ तो नो क्या करती हदन कम रखे तो चावल कच्चे कच्चे रहती और वो खाना डेढ़ पड़ी पके तो भी पड़ी का खाना छोने का पानी जरा बल्ला डाले तो हो दाना जरा नरमा की रखो उसके अंदर बरकत होती है नहीं ये चाहिए क्या तो बात है हाँ अल्लाह की भी बरकत उतरती है बोलती लेकिन हमें नमाज पढ़े तो नहीं उतरने का हमें नमाज पढ़े तो नहीं उतरने का तो मेरे मोहतरमा बहनों दुनिया में भी आप लोगों ने देखा होगा बाज लोगों के हाथ से मजा भी होता है बाज लोगों के हाथ में बरकत भी होती है मेरे मोहतरमा बहनों ये अल्लाह की तरफ से उतरने वाला मज़ा अल्लाह की तरफ से उतरने वाली बरकत है और ये उस वक्त में मिलेगी और जब औरतें अल्लाह के रास्ते में निकलेंगी जैसे उम्मे ऐमन रजी अल्लाह तह कि पूरी ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते की मेहनत करती रही आखिर उम्र में उनके हाथ में अल्लाह ने ऐसी बरकत अता फरमाई कि काफिले के काफिले ईमान में भी आ गए और जो है कि अमाल पर भी खड़े हो गए और शहर और बस्ती भी बस गई अब सोचो देखो हम लोग ऐसे हैं हमें हमारे घर को भी जोड़ ले सकते हैं उनके ईमान की बरकत से गवा और शहरा बस जाती हैं लेकिन हमारे हमारे हालात ऐसे हैं कि हमें घर भी बसा ले सकते हैं घर के पूरे आदमी हमारे से राजी नहीं घर के पूरे आदमी हमारे से राजी नहीं सबसे बड़ी बात शोहर राजी नहीं दूसरी बात शोहर के माँ बाप राजी नहीं तीसरी बात शोहर के बहन भाई राजी नहीं और चौथी बात खुद के पेट के बच्चे भी राजी नहीं सोचो ये भी कोई जिंदगी है ये भी कोई जिंदगी है अल्लाह वाले बुजुर्ग बताते हैं ये जिंदगी से और जहन्नम का खड्डा अच्छा है और वो घर घर नहीं है और बल्कि और वो घर जहन्नम का टुकड़ा है जोड़ लेने वाले और बस्ती बस्ती जोड़ लेती हैं और हम लोग हमारे घर को भी उजाड़ लेती ऐसा कई होता है बोले तो मेरे मोहतरमा बहनों हमें हमदर्दी नहीं है अल्लाह के रास्ते की कदर हमने नहीं की अल्लाह के रास्ते में निकल कर हमने हमदर्दी नहीं सीखी तो फिर हमारे लिए जो है हमारे लिए ये चीज़ नहीं डालेगी ये चीज़ नहीं डालेंगे छोटे बच्चों के हालात में छोटे बच्चों के हालात में के छोटे बच्चों के हालात में किताब में लिखा है कि बाज़ मरतबा छोटे बच्चे थोड़े आदमियों के पास बोले नहीं तो भी चले जाते एक बार बुलाते में चले जाते और थोड़े लोग हम पकड़ को खींचो तो भी रोती लेकिन उनका नहीं, नहीं जाते ध्यान से सुनो मैं देखो बात तुम्हें सो जाए करेंगे फिर ध्यान से सुनो ये बात लिखी हुई है छोटे बच्चे छोटे बच्चे थोड़े लोगों के पास खींचे तो भी नहीं जाते थोड़े लोग जर्रा इशारा करके बुलाए तक एकदम नजदीक जाती और उनसे खेलती मुस्कुराती ये बच्चों की सिफत छोटे बच्चों की इसके बारे में लिखा है छोटे बच्चों के पास फरिश्ते होते छोटे बच्चों के पास फरिश्ते होते वो जो सामने वाला आदमी उस बच्चे को बुला रहे हैं अगर वो सच्ची मोहब्बत से बुला रहे हैं तो वो फरिश्ता क्या करता उस बच्चे को उधर भेजता रहनुमाई करता ये तेरा हमदर्द है और तू इसके पास जा ये तेरा हमदर्द है और तू तो इसके पास जा जो आदमी दिल से नहीं चाहता लेकिन ऊपर ऊपर दिखाता रहता अंदर से गुस्सा रहता अंदर से गुस्सा रहता अंदर से गुस्सा ऊपर से मैं कैसी रहती कहते तो, ताकि जैसे कि ननंद के बच्चा उठा ले तो देवरानी जेठानी के बच्चा उठा ले तो कैसा रहता ऊपर से माया दिखती रहती और अंदर से मेरा बट्टा कितना मोटा हो गया है हमारे बच्चे दुबले हैं खाता से खाता रहता है नो पूरा होकर रहता है मालूम दिल में एक रहता और ऊपर एक रहता ऐसे वक्त में वो बच्चों को फरिश्ते बता डाल दी फरिश्ते बता दी अरे इन तेरी हमदर्द नहीं है और ये तू इसके पास नहीं जाना और तेरे लिए खतरा है और वो बच्चे नहीं जाते और गए तो भी गोद में एक मिनट नहीं खोड़ते नहीं छोड़ते क्योंकि उसके दिल की जो हमदर्दी है और फरिश्ते बच्चे को बता डाल रहे हैं और बड़ेदमिया को यह बात मालूम नहीं होती बड़ेदमिया को यह बात मालूम नहीं होती तो मेरा कहना यह है मेरे मोहतरमा बहनों अगर कोई सच्चे दिल से सास से मोहब्बत करे कितनी भी नफरत करने वाली जो सास रहती है ना अल्लाह ताला उसके दिल को पलट दी अगर बहु सच्ची हमदर्दी करे तो कितनी भी नफरत करने वाली बहू हो अगर सास सच्चे दिल से अगर हमदर्दी करेगी और अपने बहू की अल्लाह ताला उस बहू के दिल को पलट डाले वो हमदर्दी तंज के तौर पर नहीं बल्कि हमदर्दी के तौर पर होना और वो ताल्लुक हमदर्दी के तौर पर रहना हमदर्द आदमी गालियां देते हुए तो अच्छा लगता जैसे मिसाल के तौर पर अब एक माँ की बेटी बहुत हमदर्दी करती कभी कभी माँ को गालियां भी देती बेटी तो माँ को कैसा लगता हाँ मेरे अच्छे कुछ बोलती है लेने माँ बोल लेती क्यों बोले तो उस वक्त में वो नफरत कर रही लेकिन उसके माँ के दिल को पता है ये बेटी का मेरी गाली देना ये मेरे अच्छे के वास्ते है ये मेरे अच्छे के वास्ते है मेरे मोहतरम माँ बहनों हम पूरी उम्मत के लिए हमदर्दी क्या दिल में पैदा कर सकते हैं हमारे घर के अपराध के लिए भी हमारे लिए हमदर्दी ना हो हमारे घर में रहने वाले हमारे नंदा हैं भावजा हैं हाँ देवरानियाँ हैं जेठानियाँ हैं और रिश्तेदारा हैं कुंबे वाले हैं और अड़ोस है पड़ोस है मामी सासनो खाला सासनो नानी सासनो फुप्पू सासनो और कितने लोग हैं खानदान के लोग उन लोगों के लिए हमारी हमदर्दी नहीं है घर में एंटर होते हुए कहा भाई खाक जाने के वास्ते थोड़े लोग छपा लेते हैं तो चीजा ऊपर ऐसी चीजें भी छपा लेते हैं तो अब ही ना क्या खाक चरित्र हो जाता मेरे मोहतरम माँ बहनों दावत की जो मेहनत है वो आदमी वो आदमी ज्यादा कर सकता जिसके दिल में अपने घर के लोगों के लिए पूरी इंसानियत के लिए पूरी उम्मत के लिए पूरे मुसलमानों के लिए हमदर्दी रहना हमदर्दी हमदर्दी रहना अल्लाह के रास्ते में निकलकर कुछ भी नहीं सीख सके लेकिन लोगों के लिए अगर हम हमने हमदर्दी ले ली ये बहुत बड़ी नियमत है इस रास्ते की अपने बच्चों पर हमदर्दी अपने घर के लोगों पर हमदर्दी और मोहब्बत के साथ और हमदर्दी के साथ अगर उनके साथ हम जो भी बर्ताव करेंगे वो लोग हमारे से करीब हो जाएंगे बजाय दूर होने के और हम मोहब्बत दिखाने पर भी हम लो, वो लोग दूर हमसे क्यों हो जाते हम मोहब्बत दिखाते फिर भी वो लोग दूर हो जाते क्यों बोले तो ये हमारी सच्ची मोहब्बत नहीं है ये मोहब्बत का नाटक है और सही माना में हमारे पास हमदर्दी वाली नेमत नहीं मिली अभी हमदर्दी वाली नेमत हमें अभी नहीं मिली आप लोगों ने सुना होगा और हजार बार सुना होगा तुमने बारहा सुना होगा आप लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लम जब रास्ता चलते ये एक बूढ़ी औरत सर पे कचरा डालती बूढ़ी औरत सर पे कचरा डालती ये एक दिन सर पे कचरा नहीं आया तो उन्होंने क्या कर दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने कि उस औरत पर चढ़कर देखने के लिए गए लोगों से पूछा क्या हो गया बुढ़िया कहाँ गई आज तो ना तो बीमार है ना तो देखने के लिए चले देखने के लिए चले बोले कि कौन है तू मैं वही मोहम्मद हूं और जिसके सर पर आप कचरा डालते थे अरे तू मेरा हाल पूछने के लिए आया है कहा अम्मा जान मैं तुम्हारा हाल पूछने के लिए आया हूं कोई ज़रूरत हो तो बताओ और कोई खिदमत हो तो बताओ और कोई हाजत हो तो बताओ और मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ बुढ़िया बोली कि तू अल्लाह का नबी है और सचमुच में अल्लाह का नबी है मैं रोज आना तेरे सर पर कचरा डालती हूँ और तू मेरी हमदर्दी में और मेरी खिदमत पूछने के लिए आया है बस तू मुझे यही बता दे तेरा कलमा कौन सा है और जिसको पढ़कर अब मैं तेरे में मिलना चाहती हूँ सिर पर कचरा डालने वाली से भी हमदर्दी सिर पर कचरा डालने वाली से भी हमदर्द बाजिद बुस्तामी रहमत का वाक्य गालिबन या कोई और दूसरे बुजुर्ग थे वो रास्ते में चलते थे और एक औरत ने छत के ऊपर से राख डाल दिया छत के ऊपर से राख डाल दिया लोगों ने कहा कि हजरत उसके लिए बदुआ कर डालो कम तुम्हारे सर के ऊपर देखो और उसने राख डाली तो हजरत बोले अरे नहीं वाह मैं तो इस काबिल हूं मेरे सर पे अंगार पड़ना चाहिए अल्लाह का शुक्र है उसने राखिज डाली हमारे घर में हमारे ख़ानदान में हमारे मुतल में कोई हमारी नागवार बात आ जाए और हमारी तबीयत के खिलाफ बात आ जाए यह सोचो अल्लाह हमारी तरबियत करना चाहते मेरे से कौन सा अमल छूट रहा है उस अमल को ठीक करो फिर सारे अमल ठीक हो जाएंगे फिर सारे अमल ठीक हो जाएंगे हमने एक कारगुजारी सुनी दावत की बरकत से क्या क्या होता है और इसके क्या क्या फायदे हैं क्या क्या फायदे हैं ये एक औरत थी बिचारी दुनियादार अभी उसे कुछ दीन का दीन की समझ हासिल नहीं हुई थी तो रोजाना वो किसी ना किसी से लड़ी लड़ती थी हर दिन किसी ना किसी लड़ी लड़ना उसकी आदत ऐसी थी अगर उसको कौन लड़े नहीं दिन भर में तो रात को मरद से लड़को सोती थी उसका कोर्स पूरा कर लेना होगा और अपने बच्चा से मरद पूछ को भेजता था कहते के तेरी तेरी माँ लड़िए नहीं रही आज दिन भर में कहते बच्चे लड़िए माँ लड़िए बाबा कहते तो, घर को जल्दी आने का कहते और किससे लड़ी नहीं बाज पूरा दिन भर खामोशी रही है कह तो बेचारा देर घर को बारह बजे आने का कहता जल्दी सो जाना और जो है लड़ी जल्दी खत्म हो जाना अब जब लड़ी लड़ने वाली और उससे पूरे लोग नफरत पूरे लोग मुना, मुनाफरत तो क्या हुआ कि अल्लाह के फजल से एक दिन इज्तम सुनने के लिए चलेगी इज्तम सुनने के लिए चलेगी और इज्तम में जो है कि नाम लिखाओ नाम लिखाओ सब जिना का नाम लेको बोलते ना हाँ तुम्हें लिखाऊ माँ तुम्हें लिखाऊ माँ तुम्हें लिखाओ माँ तो सबसे लास्ट में इसे भी पूछी तू भी लिखा माँ बोल वही लड़ाई शुरू कर डाली सब जिना पहले पूछ को मुझे बाद में पूछती तुम्हें मैं तुम्हारे इतना दिखी दिखूं क्या सबसे लास्ट तक पूछती मेरे को तुम्हें मैं उतनी खराब दिखी तुम्हारा मैं दिखाता दू तुम्हारे को सबसे पहले निकल को दिखा तुम्हें तश्किल वालों से लड़ लीजिए बेचारी लड़ लगे उसके मरद को बोली कहते तुम्हारी खाट निकलती देखो तुम्हें जाना तीन दिन को क्या जरा भी अगर फर्क हो गया तो फिर मेरे से अच्छी क्या होगी मेरे से खराब कौन भी नहीं रहती उसका मरद आपको अमीर साहब से अमीर साहब जवाब निकालो अमीर साहब समा नहीं तो देखो मेरे को क्या हो जाता कि बोल सकता नहीं अरे बाप अब क्या अब जमात कहाँ निकलती रहे कहीं सभी करो अमीर साहब समा जमात जाना नहीं बोलते तो तुम्हारे को भी आता देखो नंबर नहीं बोले तो तुम्हारे को भी नंबर आता देखो यहाँ से वहां से ये गांव से वो गांव से हाँ, जो है निकाल को कभी हल्के से थोड़े इधर से और जमात बना को पांच सात हैं दूसरे दिन ही जमात ले को निकली अल्लाह की बंदी दूसरे दिन ही जो जमात ले को निकली अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने और उसके उस जज्बे को और उसके उस शोक को देखकर अल्लाह ताला उसके दिल को नरम कर दिया और वो जमात में चले गई और जमात में जाके कुछ भी नहीं सीखी और सिर्फ हमदर्दी सीखी हो मोहब्बत सीखी मैं जो करती थी वो बिल्कुल गलत था और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए हर एक के साथ मुझे मोहब्बत करना चाहिए हर एक के साथ और मुझे जो है कि अच्छे ताल्लुक से रहना चाहिए और सबके फ़ायदे के बारे में सोचना चाहिए अल्लाह ताला को दिल पलटते हुए देर नहीं लगती सारे इंसानों के दिल अल्लाह ताला के दोनों उंगलियों के दरमियान में रहते हैं जिसके दिल को जैसा चाहे अल्लाह पलट सकते हैं और जब उसका दिल अल्लाह की तरफ पलट गया और जब वो घर आई तो रोजाना लड़ने वाली और सबसे मोहब्बत कर रही तश्किल करती घर में तालीम करती और अच्छी बात समझाती और लोगों को तश्किल करती और इस्तेमा के लिए लोगों को दावत देती इसी तरह से करते करते मेरे मोहतरमा बहनों पूरा गांव सौरत से जुड़ गया पूरी गांव की औरतें और उनके साथ जुड़ गई पूरी गांव की औरतें और उनके साथ जुड़ गई और यहां तक कि जुड़ गई और उनके सिलसिले में यह बात मशहूर हो गई कि वो जो दुआएं करती हैं अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमा दे अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमा दे मेरे मोहतरमा बहनों कि आप लोगों भी जो है देखे होंगे और जो है कि वो नंदयाल के ही और जाने माने लोगों के घर से हैं उन्होंने क्योंकि औरतों का नाम बयान में नहीं बोलना इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो बहुत मशहूर हस्ती की और जो है बीवी गुजरी हैं और वो आखिर अपनी आखिर उम्र में बहुत बड़ी मुस्तजाबुद दावत बनकर और दुनिया से रुखसत हुई हैं कैसी कैसी कारगुजारियां इस रास्ते की बरकत से अल्लाह ताला लोगों को देती है नंदयाल के पूरे इलाके में कोई गांव ऐसा नहीं बचा होगा और जिसमें उनके कदम नहीं पड़े होंगे और मस्तूरात के ताल्लुक से कोई गांव ऐसा बचा होगा जो नंजाल के इलाके में उनका कदम ना पड़ा औरतें पहुंचकर आखिर उम्र में उनसे दुआएं कराती थी और लोगों का अकीदा यह था वो जो दुआ कर डालती वो कबूल हो जाती इतना ज्यादा लड़ने वाली जो औरत थी अल्लाह ताला अपने रास्ते की बरकत से हमदर्दी जो सीख गई लोगों से मोहब्बत जो सीख गई और लोगों से जो है दीन पर लालच और हिलत जो सीखी अल्लाह ने उनकी तबीयत को पलट दिया और जहां उससे लोग दूर भागते थे और सारे लोग उससे जुड़ने वाले बन गए मेरे मोहतरम माँ बहनों आप लोग भी दस दिन की नीयत से आए हो वक्त दे देखो लोगों का पता नहीं तुम्हारे साथ के साथियां और किस तरीके से घरों में रहे होंगे और उनका वक्त घर पर भी गुजर गया और आप लोगों का वक्त अल्लाह के रास्ते में गुजर गया और अल्लाह के रास्ते में गुजरना ये ऐसा गुजरना गुजरा है अल्लाह अगर चाहे इन दिनों को जरिया बनाकर जन्नत के फैसले करेंगे अगर यहां रहने के दौरान में अगर आप लोगों ने हमदर्दी सीख ली मेरे मोहतरम माँ बहनों आपकी ज़िंदगी चमक जाएगी अल्लाह आपकी ज़िंदगी को चमका देंगे अल्लाह इज्जत आप लोगों के लिए कबूलियत अता कर देंगे कबूलियत अता करेंगे देखो मेरे मोहतरम मावेनो अल्लाह के रास्ते में निकल कर बहुत सारी सीखने की चीज़ें हैं और उसमें से एक चीज़ ये भी सीखना है हमदर्दी बच्चों के साथ हमदर्दी ये है कि उनको कुरान सिखाया जाए और जो है उनको मर्द बच्चे अगर हूँ मस्जिद को भेजा जाए अपने शोहर के साथ हमदर्दी ये है उसकी खिदमत की जाए और उसको मस्जिद में भेजें और मस्जिद के अमाल में जोड़ने की फ़िक्र करें घर की औरतों से हमदर्दी ये है कि उनका हक पूरा पूरा अदा करें और उनको और दीन पर दीन के अमल पर जोड़ने की फिक्र करें और उम्मत पर हमदर्दी यह है कि पूरी उम्मत के लिए दुआ करें और उम्मत के लिए इस्तफार करें करेंगे ना सब इनशाला देखो कल के मुजाकरे में फ़िक्र के ताल्लुक से बात आई थी मेरे मोहतरमा बहनों देखो ये भी बहुत अहम चीज़ है और हमदर्दी सीखो और जब हमदर्दी रहेगी किसी का गाली देना किसी का बुरा कहना किसी का तकलीफ देना आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में हमदर्दी थी पूरी इंसानियत के लिए सर पे कचरा डाले तो भी बुरा नहीं लगता था पीठ के ऊपर ऊँट की ओजड़ी डाले तो भी बुरा नहीं लगता था और पत्थर लेकर गलियों में साथ पड़े तो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा नहीं लगता था क्योंकि उन लोगों के ताल्लुक से उनकी हमदर्दी थी जो पत्थर मारने वाले थे जो सरों पर कचरा डालने वाले थे वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन गए हजरत उमर रजी अल्लाह तलवार लेकर निकले थे नौजबिल्ला रसूल को ख़त्म करने ख़त्म करने के लिए और वो रसूल वसल्लम के जर खरीद गुलाम बन गए ये रसूल की हमदर्दी थी हज़रत उमर के सिलसिले में इधर हज़रत उमर नफरत कर रहे हैं रसूल से और दूसरी तरफ रसूल दुआ कर रहे हैं हज़रत उमर के लिए हमें हमारे घर वालों के लिए भी दुआ नहीं करते ये तो दुआ कर दी मेरा मर्द मेरी बात सुनना पूरे नोटा लाखों मेरे हाथ में डालना हो लेकिन मेरे मोहतरमा बहनों ये दुआ कभी नहीं करते मेरा मर्द चार महीने जाना मेरा मर्द शब गुजारी को जाना आतवार की मरकज को ये कभी दुआ नहीं करते मेरा मर्द मस्जिद में सबसे अच्छा दिन का काम करना ये नहीं सोचते अच्छा काम कर को पैसे कमा को लाना यह तो सोच लेती लेकिन अच्छा दिन का काम करना यह नहीं सोचती सास के लिए हमदर्द दिए है कि वो जो है कि उसको दीन में यानी कि तालीम में जोड़ने की फिक्र करें और इज्तिमा में ले जाने की फिक्र करें और बहू के लिए यह है कि बहू के लिए उसके अमाल की फिक्र करें और उसकी रियायत करें और जो है उसके लिए दरगुजर का मामला करें मेरे मोहतरम माँ बहनों सल्लल्लाहु को उम्मत पर जैसी हमदर्दी थी और उनको सताने वालों ने कितना सताया और वो दिल पे ना लिए फिर सताने वाले सब लोग आप सल्लल्लाहु के गुलाम बन गए हम लोग भी उम्मत के लिए और अपने घर के अपराध के लिए हमदर्दी सीख जाएंगे फिर वो लोग भी एक दिन ऐसा आएंगा वो हमारे गुलाम बन जाएंगे इन और पूरी इंसानियत और हमारे लिए मुसखर हो जाएगी तो सीखेंगे ना सभी इनशाला बस देखो इस दस दिन के अंदर हमने कुछ नहीं अगर हमदर्दी सीख कर गए और सब लोगों के लिए दुआ करना और समझाना अगर सीख कर गए तो समझो हमने बहुत कुछ सीख लिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तोफीक मरहमत फरमाए अल्लाह आपके इस दस दिन को कबूल फरमाए और दस दिन का मतलब है मेरे मोहतरम माँ बहनों दस दिन और दस रातें अल्लाह के रास्ते में लगना दस दिन और दस रातें अल्लाह के रास्ते में लगना उमूमन लोग जो है नौ रातें साढ़े नौ दिन लगा डालते नौ रातें और दिन के एतबार से साढ़े नौ दिन बाज लोग आठ रातें और जो है नौ दिन लगा डालते और बाज लोग के दस दिन तो लगाते और नौ रातें नौ लगाते ऐसा नहीं मेरे मोहतरमा बहनों हम काम पूरा करेंगे तो अजर भी पूरा मिलेगा हम काम पूरा करेंगे अजर भी पूरा मिलेगा कबूलियत जो उतरती अल्लाह की तरफ से काम पूरा होने के बाद उतरती जैसे मजदूरी पूरी होने काम पूरा होने के बाद मजदूरी मिलती इसी तरीके से काम पूरा होने के बाद अल्लाह की तरफ से मजदूरी मिलती इसलिए देखो कि वक्त भी पूरा करने की कोशिश करो और इस वक्त के दरमियान में और जो है हमदर्दी भी सीखो और आमल को समझ कर और उन अमाल पर लोगों को जोड़ने की भी फिक्र करो अल्लाह मुझे कहने और आप लोगों को सुनने से ज़्यादा अमलों की तोफ़ी मरहमत फरमाए वाखरुदावान अलहमदिल्ला रबीआलमी